चीज को साझी न ठहराओ और मेरे घर को परिक्रमा यानी तवाफ करने वालों और खड़े होने यानी कयाम और झुकने यानी रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए सामान्य रूप में घोषणा कर दो कि वे तुम्हारे पास हर दूरवर्ती स्थान से पैदल और ऊंटों पर सवार होकर आएं।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 العتيق ये था काबा के निर्माण का उद्देश्य और जो कोई अल्लाह की निर्धारित पाबंदियों का आदर करे तो ये उसके रब की दृष्टि में खुद उसी के लिए अच्छा है और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल यानी वैध किए गए सिवाय उन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं अतः मूर्तियों की गंदगी से बचो झूठी बातों से परहेज करो एकाग्र चित्त होकर अल्लाह के बंदे बनो उसके साथ किसी को साझी ना ठहराओ और जो कोई अल्लाह के साथ साझी ठहराए तो मानो वो आसमान से गिर गया अब या तो उसे पक्षी उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसे स्थान पर ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे ये है असल मामला इसे समझ लो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 है और उसी के तुम आज्ञाकारी बनो और ए नबी खुशखबरी दे दो विनम्रता की नीति अपनाने वालों को जिनका हाल ये है कि अल्लाह की चर्चा सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र से काम लेते हैं नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं